नंबर की आयत है अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हमने आदम से फरमाया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी यानी हजरत हवा जन्नत में रहो और जन्नत में से जहां से तुम चाहो जी भर करके खाओ मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे अल्लाह सुबहान ताला ने हज़रत आदम सलात के सामने तमाम फरिश्तों को सजदा करवाया शैतान ने सिजदा नहीं किया अल्लाह ने शैतान को अपनी रहमत से भगा दिया वो काफिर हो गया है जब ये किस्सा सजदे वाला हो गया तो अल्लाह ने हज़रत आदम सलाम को जन्नत में भेजा है अब ये जन्नत बड़ी मज़े की जगह है आदम सलाम उसमें रह रहे हैं बेहतरीन नहर है उसमें दूध की नहर है शराब की नहर है शहद की नहर है पानी की नहर है सोने चांदी के आलीशान महल हैं खाने के लिए फल फ्रूट और मेवे हैं सब कुछ है लेकिन आदम सलाम को इतनी मज़े वाली जन्नत में कुछ अधूरा लगता था कुछ कमी लगती थी और वो कमी और अधूरापन क्या था कि शानदार किसी के पास घर हो लेकिन घर वाली न हो तो वो घर आदमी को अधूरा लगता है तो इस जन्नत में भी सब कुछ है लेकिन आदम सलाम अकेले हैं कोई साथ देने वाला चाहिए कंपनी देने वाला चाहिए आदम सलाम इस दुनिया में आने से पहले जो जन्नत में गए हैं ये हमेशा रहने के लिए नहीं गए थे काम चलाओ थोड़े दिनों के वास्ते अब इस दुनिया के बाद जब जन्नत आएगी तो वो जन्नत हमेशा के लिए आएगी और जन्नत का जो हिस्सा जो जमीन जो बंगले अब इनशाला हमको मिलेंगे वो मालिकी के तौर पर मिलेंगे हम उसके इंशाल्लाह मालिक होंगे और वो भाड़ूत की तरह नहीं कि चंद दिन में खाली करना पड़े इस दुनिया के बाद जब अल्लाह ताला हम ईमान वालों को जब जन्नत अता फरमाएंगे तो वो परमानेंट होगी मालिकी वाली होगी खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरी सुमिन इबादिना मन कान तकिया हमारे जो बंदे हमसे डरते हैं और ईमान रखते हैं ईमान वाले काम करते हैं हम उनको जन्नत का मालिक बना देंगे कि ये बंगले ये नहरें ये बागीचे ये बाड़ियां सब तुम्हारी मालिकी में है अब जब हम इस दुनिया के बाद दोबारा इनशाला जन्नत में जाएंगे तो वहां नींद नहीं होगी सोना नहीं मिलेगा इसीलिए कि जितनी देर आदमी सोता है वो खाने से पीने से मौज मज़े उड़ाने से महरूम रह जाता है जैसे बहुत सी मर्तबा होता है ना कि फुलानी चीज तकसीम हो रही थी तुम कहाँ थे का मैं तो सोया हुआ था का सोए थे नहीं इसीलिए तुम रह गए सोने से तो आदमी रह जाता है महरूम हो जाता है और जन्नत कोई महरूम होने की जगह नहीं है इसीलिए जन्नत के अंदर नींद नहीं होगी सोना नहीं होगा थकन ही नहीं होगी थके तो सोने की जरूरत पड़े खाना भी खाते ही जाओ न जो है चर्बी बढ़ने की फिक्र न कोलेस्ट्रॉल की फिक्र न प्रेशर की फिक्र न शुगर की फिक्र न हार्ट की फिक्र कोई टेंशन नहीं खाते जाओ एक डकार आएगी सब हजम हो जाएगा सिर्फ डकार पर वहां पिशाब पाखाना भी नहीं होगा इसीलिए जन्नत के अंदर टॉयलेट नहीं है संडास नहीं है जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी लेकिन आदम सलाम जब अभी पहली मरतबा जन्नत में गए दुनिया में आने से पहले तब जन्नत में सोए थे तो आदम सलाम को अकेला अकेला लग रहा था एक दिन जन्नत में किसी जगह मीठी नींद सो रहे थे अल्लाह ताला ने यूं समझो उनकी सर्जरी की ऑपरेशन किया है ये जो छाती का चेस है ये पासड़िया हैं सब पसली सब तो एक पसली इधर है दूसरी पसलियां इधर है जमणी साइड और डाबी साइड तो डाबी साइड में जो सबसे छोटी पसली होती है वो अल्लाह ताला ने आदम सलाम की खींची और खींच के बाहर निकाले इसी वजह से आप गिन लेना इधर 18 पसली है जमणी साइड में और डाबी साइड के अंदर 17 पसली है एक कम है क्योंकि आदम सलाम की जो हम सब के अब्बा जान उनकी दाबी तरफ से एक पसली अल्लाह ने खींच ली थी और उस पसली को खींच करके अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसमें से मां हवा को पैदा फरमाया है कैसी अल्लाह की कुदरत कि एक पसली में से अल्लाह एक पूरी औरत को पैदा फरमा दे रहे फतबारक अहसनुल खालिकीन अल्लाह बहुत अच्छे पैदा करने वाले हैं जो पसली में से एक औरत बनावे कहते हैं कि जब हजरत आदम की पसली खींची गई अल्लाह ने उसकी जगह पर गोश रख दिया आदम सलाम को दर्द भी नहीं हुआ तकलीफ भी नहीं हुई पता भी नहीं चला का अगर जो उस पसली के खींचने में आदम सलाम को दुखावा होता तकलीफ होती तो दुनिया में कोई मर्द किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता कि तुम्हारी वजह से हमको दर्द हुआ था कोई शोहर किसी बीवी से मोहब्बत न करता लेकिन अल्लाह की शान कि तकलीफ ही नहीं हुई आदम सलाम को और दूसरी खास बात यह है कि पसली जो है वो ज़रा नरम होती है ये हाथ की हड्डी पैर की हड्डी थोड़ी सख्त होती है पसली थोड़ी नरम होती है इस नरम पसली से अल्लाह ने औरत को पैदा फरमाया इसलिए औरतों के मिजाज के अंदर नरमी होती है नरम मिजाज इनको कबर की बात सुनाओ जहन्नम की बात सुनाओ आखिरत की बात सुनाओ बहुत जल्दी रोना आ जाता है नरम मिजाज अल्लाह ने औरत को बनाया है दूसरी एक खास बात यह कि डाबी पसली से हवा को पैदा किया और डाबी साइट में इंसान का दिल होता है हार्ट भी इधर होता है हजारों में एकाध कोई होता है जिसको जमनी साइड में दिल होता है वरना सब का दिल इधर डाबी साइड होता है और जहां दिल है वहां पर पसली है दोनों करीब करीब में है और अल्लाह ने वहीं से पसली खींच के हजरत अव्वा को बनाया है अल्लाह हमको ये समझा रहे हैं कि औरत की बीवी की मोहब्बत दिल के अंदर होनी चाहिए दिल मोहब्बत की जगह है और पसली उसके बिल्कुल करीब के अंदर है लिहाजा तुम अपनी बीवी से औरतों से मोहब्बत रखो और एक खास बात कि देखो ये हाथ की जो हड्डी है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी है पैर की हड्डी भी घुटने तक सीधी फिर ऊपर सीधी लेकिन कोई भी पसली अठारह हो के सत्रह हो सीधी नहीं होती टेढ़ी होती है अल्लाह ताला हमको समझा रहे हैं मर्दों को कि औरत को हमने टेढ़ी पसली से बनाया है उसके फितरत में उसकी तबीयत के अंदर थोड़ा टेढ़ापन आएगा और पसली के टेढ़ेपन को तुम सीधे करने जाओ सीधी तो होती नहीं क्रैक हो जाती है टूट जाती है हदीस शरीफ में फरमाया कि इसको सीधा करना और टूट जाना ये टूट जाना यानी तलाक हो जाना इसलिए कहा कि ये मरद का कमाल होना चाहिए मरद की समझदारी की बात होनी चाहिए कि औरत की तबीयत और मिजाज के टेढ़ेपन के साथ वो हिकमत से जिंदगी गुजार लेवे ये चालाकी मरद में होनी चाहिए और उसको समझाने का लेकिन बहुत सीधा करने नहीं जाने का वरना टूट जावे तलाक हो जावे थोड़े वाकेपन के साथ ही जिंदगी गुजारने की ये मिजाज की और फितरत की बात है तो जब हजरत हवा पैदा हो गई आदम सलाम तो नींद के अंदर थे जब नींद में से उठे तो इधर उधर देखा तो हजरत हवा पर नजर पड़ी बहुत खूबसूरत अल्लाह ने हजरत हवा को बनाया था अब आप सोचो कि दुनिया में कयामत तक जितने खूबसूरत मर्द आएंगे जितनी खूबसूरत औरतें आएगी उन सब की अम्मा हजरत हवा है वो कितनी खूबसूरत होगी कहते ना जैसी माँ वैसी बेटी तो सब की वो मां तो कितनी ज्यादा अल्लाह ने उनको खूबसूरत बनाया होगा तो बहुत हसीन थी बहुत खूबसूरत थी हजरत हवा और आदम सलाम ने जब उनको देखा तो कहा चलो आज तक जन्नत में अकेले थे अब कोई साथ देने वाली आ गई घर तो था अब घर वाली आई तो आदम सलाम ने इरादा फरमाया कि चलो जावे उसके पास और जाकर के उसको पूछे तो कौन है कहां से आई क्या है जैसे ही इरादा किया आदम सलाम ने तो अल्लाह के फरिश्तों ने आवाज लगाई अल्लाह की तरफ से फरमाया कि या आदम व अद्दी महरहा आदम रुक जाओ ये एक औरत है ऐसे तुम उनके पास नहीं जा सकते पहले मेहर की रकम दो निकाह करो फिर जाओ उसके बगैर नहीं जा सकते ये अल्लाह की तरफ से आवाज आई मालूम हुआ कि ये तो जन्नत की बात है वहां का कानून तो दुनिया में तो ये कानून ज्यादा चलेगा कि किसी भी पराई औरत के पास बिगैर निकाह बिगैर मेहर बिगैर शादी के नहीं जाने का तो हजरत आदम सलाम को मालूम ही नहीं निका कैसे करने का मेर क्या देने की तो पूछा कि भाई वमा महरुहा क्या मेहर दो कितनी मेहर दो फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला जवाब भी इतना प्यारा कि अल्लाह ताला हज़रत आदम सलाम को उस जवाब के ज़रिए से एक बहुत मुकद्दस नूरानी इंसान की पहचान कराना चाहते थे जवाब मिला अंतुसल्लिया अला हबीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशरीन मर्रातिन आदम तुम्हारी औलाद में हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तुम उनके ऊपर बीस मरतबा दुरुद पढ़ो ये तुम्हारे निकाह का मेहर होगा अल्लाह ताला ये पहचान कराना चाहते थे कि सारी दुनिया खुद तुम्हारी पैदाइश ये जन्नत ये दोजख ये सब कुछ हमने बनाया है हमारे उस आखिरी नबी के तुफेल के अंदर खुदा ने पहचान करा दी हज़रत आदम सलाम ने बीस मरतबा दुरुद पाक पढ़ा हज़रत हवा का मेहर अदा किया फिर निका खाने की मजलिस हुई और कोई चीज नहीं बस सिर्फ मेहर कितने जोड़ी कपड़े कितनी जोड़ी चप्पल कितना सौंदा कितनी चांदी कितने बर्तन कितने बेड कुछ नहीं ये सब बकवास चीज है ये क्या असल मेहर मेहर के सिवा और कोई फॉर्मेलिटी नहीं मेहर निकाह में कंपलसरी फरजियात ही देने की बाकी सब चीजें दी तो किया ना दी तो किया सिर्फ मेहर हजरत आदम सलाम ने मेहर अदा फरमाया और मेहर अदा करने के बाद निकाह हुआ अब निकाह में गवाह कौन वहां और कौन है कि उसको गवाह बनाए वहां अल्लाह के फरिश्ते हैं अल्लाह के अर्श को उठाने वाले बड़े ऊंचे मर्तबे के फरिश्ते हैं अल्लाह ने उनको गवाह बनाया है फरमाया या हमलत अरशी व मलाइकती ए मेरे अरश के उठाने वालों ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ मैंने अपनी बंदी हवा का निकाह अपने बंदे आदम के साथ करवा दिया है एकदम सिंपल सादा निकाह जन्नत में हुआ न कोई बारात आई न बैंड वालों को बुलाया न जो है वीडियो शूटिंग करने वालों को बुलवाया न औरतों ने हल्दियां लगाई न जो है वहां पर गीत गाए गए न जो है सब जवान लड़के जमा होके दुल्हन के घर गए न सीटियां बजी न तालियां बजी न शोर हुआ कुछ नहीं हालांकि जन्नत में निकाह हो रहा था एकदम सीधा सिंपल निकाह मेहर दी गवाह फरिश्ते और जन्नत में अल्लाह ताला ने निकाह करा दिया जब निकाह हो चुके तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि या आदम उस्कुन अंत वजौजुकल जन्ना वकुलना या आदम उस्कुन अंत वजौजुकल जन्ना ए आदम अब तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो जाकर के मजे से रहो इसमें आदम सलाम का नाम पहले अंत आदम तुम रहो दूसरे नंबर पर मां हवा का नाम है जऊ झुका तुम्हारी बीवी क्या मीनिंग हुआ कि बीवी के लिए मकान की इंतजाम करना शोहर के जिम्मे में है घर रोम ये शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को रहने के लिए मकान देवे दूसरा मसला ये निकला इस आयत से कि शौहर बीवी को जहां ले जाके रखे बीवी को वहां रहना पड़ेगा जहां शोहर ले जावे वहां बीवी जावे उसमें बीवी जबरदस्ती नहीं करती कि मैं यहां ही रहो वहां नहीं रहो नहीं बीवी अंडर में है शोहर के हाथ के नीचे है जहां ले जा करके शोहर रखे वहां रहने का तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जाओ जन्नत में वकोला मिन हारदन हई सुशी तुमा पूरी जन्नत में जो खाना हो जितना खाना हो खाओ पूरी छूट दी अल्लाह तला ने यानी जन्नत में खाने के लिए पीने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि नौकरी पे जाओ पगार लाओ खेती में जाओ खेती करके लाओ दुकान पे जाओ गल्ला लाओ कुछ नहीं यहाँ कोई मेहनत कोई तकलीफ कोई टेंशन कुछ नहीं अल्लाह बगैर मेहनत के तुमको रोजी देंगे खाओ ये सिर्फ जन्नत का कमाल है याद रखना कि बगैर मेहनत के बगैर तकलीफ के बैठे बिठाए रोजी अल्लाह जन्नत में इंशाला अता फरमाएंगे बाकी ये दुनिया तो दारुल असबाब है यहां तो हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं अरे जो बापू लोग हजारों कमाते वो भी तावीज लिखने में हाथ तो हिलाते हैं ने हाथ हिलाना पड़ता है तावीजें लिखनी पड़ती है उतना तो कम से कम करना पड़ता है ये दुनिया है ही ऐसी चीज कुछ न कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है बगैर मेहनत की रोजी इंशाला जन्नत में मिलेगी बैठे बिठाए तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम हवा वकोला मिनहारदन है तुमा इस पूरी जन्नत में से जो खाना हो जितना खाना हो कोई मेहनत नहीं करने की खाओ देखो यहाँ अल्लाह ताला ने कोई अलग अलग बात नहीं फरमाई क्या फरमाया तुम दोनों खाओ इसका मीनिंग ये हुआ कि खाने पीने में मियाँ बीवी शोहर और औरत दोनों आज़ाद है कोई किसी की पसंद का पाबंद नहीं है कि जो शोहर खावे वही बीवी को खाना पड़े जो बीवी खावे वही शोहर को खाना पड़े शोहर की पसंद वही बीवी की पसंद जो बीवी की पसंद वो शोहर की पसंद ऐसा कुछ नहीं खाने में दोनों की मर्जी बीवी को जो पसंद है वो खावे शोहर को जो पसंद है वो खावे कोई अपनी पसंद दूसरे पर जबरदस्ती नहीं कर सकता वकुला मिनहा रगदन हैथु शीतुमा एक साहब मुझे एक मर्तबा पूछने लगे कि जी सब आप झींगे खाते हो मैंने कहा नहीं खाता हूं का मैंने आपके लिए लिए हैं मैंने कहा खाता नहीं हूं घर वाले खाते हैं उनको रोकता नहीं हूं हमारी शरीयत है कि भाई एक चीज को मैं पसंद नहीं करता हूं तो नहीं खाता दूसरे को पसंद है वो खाए हम रोक नहीं सकते हम किसी को मशवरा दे सकते हैं इसमें तकलीफ है इसमें नुकसान है ये मत खाओ लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते खाने पीने में हर एक आजाद है वकोला मिनहा रगदन सुशी तुमा अल्लाह ने पूरी जन्नत में आजादी दे दी खाओ मजे से लेकिन आगे फरमाया वाला तकरबा शजरा फतकूना मिन अल्लाह ने एक दरख्त बतलाया एक झाड़ बतलाया आदम और हवा पूरी जन्नत में तुम आजाद हो लेकिन इस झाड़ में से खा नहीं सकते इसकी पाबंदी तुम्हारे लिए और देखो पास में जावे ने तो खाने का जी होवे कि जरा टेस्ट तो कर ले यहां तक आए है दवा तो हम तुमको कहते हैं पास में भी मत जाना वला तकरबा इस झाड़ के पास भी नहीं जाना जाओ तो खाने का मन होवे इसलिए जाना ही मत अगर इस झाड़ को तोड़ा उसके फल को खाया तो तुम जुलम करने वाले होंगे गुनेगार हो जाओगे अब वो कौन सा झाड़ था फिक्स तो नहीं मालूम लेकिन किसी किताब में लिखा है कि वो गेहूं का दाना था कि गहू खाने से अल्लाह ने मना किया किसी किताब में लिखा है कि अंगूर खाने से मना गया कहीं लिखा है अंजीर का वो झाड़ था ये नहीं खाने का तुमको अब क्यों नहीं खाने का हम कौन हुए कि अल्लाह को पूछे कि अल्लाह क्यों नहीं खाने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया बस मानने का बंदा कहते हैं किसको अल्लाह का हुक्म माने वो बंदा बंदा जो है वो क्यों का सवाल नहीं कर सकता कि अल्लाह क्यों नहीं खाने का ये बंदा नहीं कर सकता बस अल्लाह ने ना के दिया अब नहीं खाने का वला रबा हादी शजरा फतकूना मिन ालिमीन एक हिकमत की बात समझो अभी तो आदम सलाम और माँ हवा दुनिया में आए नहीं है अभी आने वाले हैं अभी तो जन्नत की बात चल रही है न अगर अल्लाह ताला पूरी जन्नत की छूट दे देते एक चीज की भी पाबंदी नहीं लगाते तो उनकी तबीयत के अंदर उनके मिजाज में उनके नेचर के अंदर आजादी आ जाती जिसको हम कहते हैं ना फ्रीडम फ्री लाइफ आजादी आ जाती उनकी तबीयत में और दुनिया के अंदर आजादी अच्छी चीज नहीं है कि इंसान आजाद और आवारा जिंदगी गुजारे इसीलिए अल्लाह ने पाबंदी लगाई ताकि उनका मिजाज पाबंदी पर अमल करने वाला हो जाए कि कुछ खाने का कुछ नहीं खाने का ये सब खाने का ये नहीं खाने का ये अल्लाह ताला आदत बनाना चाहते थे चूंकि दुनिया में अल्लाह ने सैकड़ों चीजें हलाल बनाई और कुछ चीजें अल्लाह ने हराम बनाई है का हलाल चीजें खाओ लेकिन हराम चीज पास में भी मत जाना ये अल्लाह ताला कानून सिखलाना चाहते थे इसीलिए अल्लाह ने उनका मिजाज और नेचर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने एक झाड़ के पास जाने से मना कर दिया दोनों ने बहुत पाबंदी की कि बिल्कुल नहीं जाने का लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जो मुकद्दर होता है जो तकदीर होती है वो तो होकर के रहती है चुनानचे उस दरख्त में से खा लिया शैतान ने खिलवा दिया और उसकी वजह से फिर दुनिया में आना पड़ा वो वाकया इनशाला आइंदा मजलिस के अंदर असलकम वरहमतुल्ला वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला अजान होती है तो कुत्ते बहुत चिल्लाते हैं खासकर फजर में ऐसा होता है हदीस में आता है कि जब अजान होती है तो जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है वहाँ तक शैतान दूर भाग जाता है इसलिए कि शैतान अजान की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है अब जब शैतान को भागते हुए देखते हैं कुत्ते तो उसकी वजह से वो चिल्लाते हैं रोते हैं हम कभी वज़ू करते हैं तो बाज़ मरतबा पेशाब का कतरा निकल जाता है हम फिर से वज़ू करते हैं उसके बाद पेशाब का कतरा निकला या नहीं वो मालूम नहीं पड़ता कभी कभी हम फ़र्ज नमाज में होते हैं और ऐसा लगता है कि पेशाब का कतरा निकला ये मसला समझ लो मर्द को आमतौर पर यह तकलीफ होती है कि पेशाब करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पेशाब का एक आध छोटा कतरा आता है इस जमाने में जनरली ये बीमारी आम है हमको उसके लिए एक बेहतरीन तरीका बताया गया है तरीका ये है कि हर एक आदमी किसी फुर्सत के वक्त पर अपनी हालत देख लेवे कि पेशाब करने के बाद मुझे कितनी मिनट के बाद कतरा टीपा निकल रहा है पेशाब का कभी दो मिनट बाद कभी तीन मिनट के बाद कभी पांच मिनट के बाद कतरा आ सकता है तो सबसे पहला काम तो ये कि पेशाब करने के बाद पानी से धोना जल्दी नहीं करने की पेशाब करने के बाद थोड़ी जानबूझ के खांसी करने की नहीं आवे तो भी करने की खांसी करने से पेशाब का जो कतरा रास्ते में रुका रहता है वो निकल जाता है थोड़ा उठ बैठ करने की स्टिंजे में खड़े होने का बैठने का खड़े होने का बैठने का उससे भी पिशाब का कतरा निकल जाता है अंदर स्टिंजे में ही आगे पीछे जरा चलने का उससे भी कतरा निकल जाता है ये खांसी करना उठ बैठ करना जरा चलना ये कतरे को निकाल देने का बेहतरीन तरीका है और किसी को ये बीमारी और ज्यादा होवे तो उनको जरा टाइम निकाल के पेशाब करने का मसलन आपने फुर्सत के टाइम पर अपनी हालत देख ली कि मुझे छह मिनट बाद सात मिनट बाद भी एक टिपा निकलता है फिर नहीं निकलता तो दस पंद्रह मिनट पहले नमाज से पेशाब कर लो फिर अगर तुम घर के अंदर हो तो पेशाब करने के लिए लुंगी कपड़े जरा अलग रखो छह सात मिनट इंतजार करो जरा चलो लेट जाओ फिर उसके बाद पानी से दोबारा धो लो फिर वजू करो जल्दी जल्दी बाहर है घर में नहीं है तो टिश्यू का कागज रखने का है कि वो पेशाब करने के बाद वो टिश्यू रख देने का छः सात मिनट आठ मिनट नौ मिनट हो गई का अब कतरा जो निकलने का होगा निकल गया वो टिश्यू का कागज निकाल के फेंक देने का और फिर धो लेने का पानी से और वजू करके नमाज पढ़ लेने की बाज मरतबा जैसे सहाबा के जमाने में क्या होता था कि पेशाब करने के बाद मिट्टी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा पेशाब की जगह रखते थे जिसकी वजह से पेशाब का कतरा बाहर निकल जाता था ये सब तरीके हैं पेशाब के कतरे को निकालने के अब अपने तो करते क्या है चार मिनट बाकी हो तो क्या चलो नमाज पढ़ने उसी में पेशाब भी करनी उसी में वजू भी करनी और उसी में रकात भी नहीं जावे तो ये सब इमरजेंसी में कैसे होवे हर चीज की तैयारी अपनी हैसियत के मुताबिक करने की अगर अपने को ऐसा लगता है तो जरा जल्दी फ्री हो जाने का या नमाज पढ़ने के बाद पेशाब करने का नमाज अभी पढ़ लो फिर पेशाब करने जाना ये सब तरीके हो सकते हैं और किसी को और ज्यादा इसकी बीमारी हो तो उसके लिए तल खाने से फायदा होता है अल्लाह ताला कतरात की बीमारी के अंदर शिफा आता फरमाया इद्दत के ज़माने के अंदर औरत जवेरात नहीं पहन सकती इद्दत जब चालू हो तो औरत यानी किसी का शोहर का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद बीवी इद्दत में बैठी है तो इद्दत के अंदर जेवर नहीं पहन सकती लेकिन जब इद्दत पूरी हो गई तो जेवर भी पहन सकती है मेहंदी भी लगा सकती है लेकिन पराए मर्दों को दिखाने के लिए नहीं किसी आदमी का इंतकाल होता है तो उसकी औरत के हाथ में जो कंगन होती है वो तोड़ डालते हैं ये तो गलत तरीका है क्यों तोड़ डाले उसको निकाल के रख दो तोड़ने की क्या जरूरत है ये गलत तरीका है ये जो काफ वाली आयतें हैं उसके बारे में इन्होंने सवाल किया है तो ये काफ वाली आयतों के बारे में किसी हदीस में हमको फजीलत नहीं मिली अब तक कि किसी हदीस में कोई फजीलत आई हो सुना है कि बापू के यहाँ अमीलों के यहाँ ऐसा कोई सिलसिला होता है हमको नहीं मालूम कहीं ढूंढेंगे किताबों में कहीं मिल गया तो बता देंगे इनशाला हलीमा बीबी नज़र अली वजीर आला वजीर वाला अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए उनकी कब्र को नूर से मुनवर फरमाए उनके दर्जात को अल्लाह जन्नतफरदोस में बुलंद फरमाए पसमान दगान को सब्र आता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सल अल्लाहुम्म मोहम्मद वाला आलि सईदिना मोहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील हवाली वल आफात व तकदीलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सयात व तरफाउना बिहा इंद का आलत وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 फरमा दे तमाम इंतकाल किए हुओं की मकफिरत फरमा दे एल्ला बेघरों को घर अता फरमा बेसहारों को सहारा अता फरमा उजड़ों को आबाद फरमा भूखो प्यासों की जरूरत पूरी फरमा हर जरूरत मन की हर जायज जरूरत को पूरा फरमा ला अमन अमान का माहौल कायम फरमा फितने फसाद से हिफाजत फरमा ला हमारी उम्र में बरकत अता फरमा हलाल तरीके से बरकत वाली रोजी रोटी अता फरमा ला अपनों और गैरों के हर शर और फितनों से हम तमाम की हिफाजत फरमा लें एल्ला हम सबको अपने अपने वक्त के ऊपर ईमान पर हुसन खातिमा आता फरमा कबर को जन्नत का बागीचा बना दे जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा ले बिला हिसाब किताब तेरे करम से जन्नतुल फिरदौस का अवलीन दाखला आता फरमा दुनिया आखिरत में तेरे फजल करम का मामला फरमा हमको हमारी औलादों को हमारी नस्लों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले अल्लाह हमको हमारी नस्लों को अल्लाह इज्जत आफियत बरकत वाली रोजी से माला माल फरमा दे हर किस्म की मोहताजी परेशानी उलझन से हिफाजत फरमाए अल्लाह बहुत से भाइयों और बहनों पर जिन्नात और जादू के असरात हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए अल्लाह जो कैदोबंद में महबूस है तेरे करम से फजल से उन सब को रिहाई अता फरमा दे मुकदमात में माखूजों को बरी फरमा दे हर जी हक का हक अदा करने वाला बना दे अल्लाह हमारी बातों को हमारे कामों को हमारी सोचों को हमारी जिंदगियों को तेरी तात और मर्जी वाली बना दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइया मांगी हमें और पूरी उम्मत को आता फरमा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पना चाहिए एला हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों से हौज कौसर का पानी पीना नसीब फरमा उनकी शफात को हमारे हक में कबूल फरमा एल्ला हमारी इन मजालिस को अपने करम से फजल से कबूल फरमा पूरे आलम में दीन की जितनी मेहनतें हो रही है और वो तेरे यहाँ मकबूल है और सही नहज से है अल्लाह उन तमाम की नुसरत और मदद फरमा काम करने वालों की नुसरत और मदद फरमा हमारी इन दुआओं को तेरे करम फजल से कबूल फरमा वसल नबील करीम अलीही वसाहबी अजमाइन सुबहान रबिक रबिल्ज़त अम्मा यसिफ़ोन वसलामसलिन वलहमदिल्ला रबी